और क्या ही अच्छा होता अगर वो उस पर राजी रहते जो उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और कहते हमारे लिए अल्लाह काफी है अनकरीब हमें अल्लाह अपने फजल से अता फरमाएगा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेशक हम अल्लाह की तरफ रगबत करने वाले हैं